धन खाते रहो जय राम रमा रमनम समनम सुरेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभो दस शेष विनाशन बीस भुजा रवि गौरी महामहि गौरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे शर पावक तेज प्रचंड दहे चारुतरम सायक मण्डलमण्डलचारुतरम् धृतसायक चापनिषङ्गवरम् मदमोहमहाममकारजनी तम पुंज विवाह करते जयनी मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे न किए अतिनाथ अनाथ निपाई रे विषयावन पामर पूति करे बहुरोग वियोग निरोग है भवदन्द्रि निरादर के फल फलये भवसिन्धुवदाधिपरे नरते पंकज प्रेम नजे करते प्रतिदीन मलिन दुखी दिन के पद पंकज प्रीत नहीं बलवंत भवंत कथा जिनके प्रियसन्तयनन्त सदा लोगन कुलकी नैरागुणलोगनमानुमदा इनके समवैभववा विपदा पीते सब सेवक हो समुदाय मुनि त्यागत योग भरोस सदा हरि प्रेम निरंतर गज सेवत सो करिए सममानी रादर आदर ही सब संत सुखी विचरन्ति मयि मुनिमानस पंकज भंग भजे रघुवीर महारण धीर यजे तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोगमहागदमान हरि गुणशील कृपा परमायतनम निरन्तर श्रीरमणम् रघुनन्दनिकन्दय द्वन्द्वघनम् जनम बार बार परमानम् भरसुदेव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्सङ्ग भरणी महापति राम गुण हरस गए कैलास

ससियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की जय स्मरण करें अयोध्या भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ देवता लोग ब्रह्मा जी इंद्र ये सब लोग भगवान के सामने आए दर्शन करने के लिए स्थितियाँ की देवता लोग स्थित करके चले गए ब्रह्मा जी स्थित कर लिए तब उसके बाद शंकर जी ने भगवान की स्थिति की अभी स्थिति है भगवान शंकर की पहले देश तो में संबोधक आए धारण किए वहाँ पर भगवान शंकर जी आए जहाँ भगवान श्री राम जी विराजमान उन्होंने भी भगवान की स्थिति स्थितियाँ सबकी अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार जैसे जीविका है वैसी उनकी स्थिति है ब्रह्मा जी जैसे हैं वैसे उनकी अपनी स्थिति भी है भगवान शंकर जी की स्थिति उनसे भिन्न प्रकार की है इससे में होता है कि भगवान शंकर जी की भक्ति कैसी है ज्ञान कैसा है और कैसी अवस्था कुछ अवस्था है मैंने हम लोगों के लिए भी एक प्रकार के मार्गदर्शन है व्यक्तित्व के विभिन्न स्तर हैं और जिस स्तर का जो व्यक्ति है उसकी उसी प्रकार की धारणा है विचार है ज्ञान है विशेषता है शंकर जी ने ज्ञान परमात्मा ज्ञान और परमात्मा में परम भक्ति है और समत्व भाव है समत्व भाव विशेषता उसकी है तो इसी समग्र भाव में तो भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं जय राम रमा रमनम समनम भवताप जय राम आपकी जय हो आप रमा रमन है लक्ष्मी पति है आपकी जय हो समनम भवताप भवताप का आप समन करने वाले हैं भवताप का कर वही संसार के देश नाना प्रकार के जीव ने अपने राग से अपना संसार रख लिया मेरा तेरा हो गया भले बुरे हो गए ऊंच नीच हो गए शत्रु मित्र हो गए इस प्रकार का भेद पैदा कर लिया बुद्धि उसी से घोषित हो गई और फिर उससे वो ताप पाने लगा संतप्त होने लगा तब इस संताप को दूर करने वाले भगवान आप ही हैं अब जिसका चित्र परमात्मा में स्थित हो जाए परमात्मा भाव में चढ़ता आ जाए तो इस प्रकार का संसार निवृत्त हो जाए संसार से छुटकारा हो जाए उसके और शांति प्राप्त हो जाए अपने अंतर तक की भी शांति और वही आनंद उसमें व्यक्ति में लग रहे और से शांत भाव में रहता हुआ तो संसार में व्यवहार करे व्यवहार के समय भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो जो संसार से निवृत्त व्यक्ति हो गया है उसके ऊपर उनका प्रभाव कर नहीं करता आदि से रक्षण लगता है शास्त्र उसके गंध जो है उसके ऊपर आघात नहीं करेंगे ये सब आगे बताते हैं इस प्रकार तो कहते हैं समनम भवता भयाकुल पारिजनम संसार पाप से भयभीत जो लोग हैं वे जन पाही मन रक्षा करो उनकी रक्षा करो पाही मैंने आप उनको रक्षा कीजिए संसार में संसार पाप से और उसके भय से भी जाते हैं संसार भयभीत भी करता है जब व्यक्ति संसार में पड़ा है तो उसे अनेक प्रकार के भय रहते हैं लौकिक भय भी रहते हैं और मृत्यु त्याग का भी भय रहता है अगले लोग का भी भय रहता है तो उन भयों से पीड़ित व्यक्ति उनका जब संसार में मृत्यु हो तो उनका भय भी दूर हो और सुरेश रमेश विभो ये सब संबोधन है भगवान के गीता का अवधेश है अवध के राजा है सुरेश देवताओं की भी देवता है आदि देव है रमेश रमाती से सीधा रमा रमण लक्ष्मीपति है और विभो यहाँ व्यापक कई लक्ष्मीपति इत्यादि कहा सुरेश आदि कहा कि पुत्र महाराज है कि जैसे अनेक मनुष्य है अनेक देवता है ऐसे तो एक देशी है सभी भारी देशी है उनकी व्यापकता के आनंद है ये आकाश की प्रति विभोग कहें व्यापक कहें तो आकाश को स्मरण करो जैसे आकाश में ही सब है ऐसे उस पर ब्रह्म परमात्मा में ही समस्त सृष्टिया जितने लोग लोकांतर हैं सब उसी परमात्मा में स्थित है विभो शरणागत मागत पावी प्रभो शरणागत आपकी शरण में आकर के हम आपसे ही मानते हैं प्रभो कि आप हमारी रक्षा कीजिए भाग भाव है अन्य लोगों के लिए जैसे भगवान शंकर जी कहते हैं ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए भी कि भगवान की शरण में जाए और भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारी रक्षा करो इससे रक्षा करो कि संसार सागर से <clears throat> और इसमें जो राजवेश आदि है इनसे हमारी रक्षा करो <clears throat> तो इसमें संसार में हिंसाचर है बड़ा संसार है मन राग देशात्मक प्रवृत्ति जो है जिसमें भी जीव गिरा हुआ है उसमें भी निशाचर निशाचरों में सबसे बड़ा निशाचर राम लोग तो उसकी बात कहते हैं कि उसी से विनाशन बीस भूया आपने दस तीस और बीस भूजा वाले रावण का विनाश कर दिया तो आप उन्हीं का नाश करने वाले आप संसार सागर से हमारा उद्धार करें और ये हमारे हृदय में बैठे हुए निकाल कर है इनका भी संहार करें दस और बीस ऊर्जा इस बात की भी सूचक है कि शरीर जो है वो भौतिक और शरीराभिमानी व्यक्ति और शरीर में अहंकार रखने वाला तादाद में रखने वाला और उसी को बहुत बड़ी शक्ति समझने वाला दस शीर्ष और बीस गया है एक ऊर्जा नहीं बीस बीस ऊर्जा मैंने उसने बहुत बहुत समृद्धि पद शक्ति धन एकत्र करके अपने आप को भौतिक रूप से बलवान बना लिया और उसका अहंकार भी हो गया अभिमान भी हो गया और उसी में आसक्ति भी हो गया ये सूचना नहीं थी दस शीस और बीस पूजा इससे ज्यादा क्या होगा व्यक्ति का विकास हुआ भौतिक रूप से इसका जुगाड़ बना लिया उसने इतना सब जोड़ लिया एक सिर के बजाय पचास सिर हो गए दो हाथ के बजाय बीस बीस हाथ हो गए बड़ा काम किया बड़ा समृद्धि करती थी बड़ा शक्तिशाली बन गया सारा विमान लोग कर देखो मैंने बहुत कर लिया और मेरे से ज्यादा कोई कौन हो सकता है तो रावण को अहंकार हो गया तो कहते ये अहंकार के संसार का विकास है हम जो संसार में घिरे हुए हैं उसमें भी इनका चक्रवास तो सुखी से बिना तन गीत हो जा कृत दूर रहा मजबूरी हो जा कृत दूर आपने उसे दूर कर दिया महामही पूरी हो जा वो इस पृथ्वी का बहुत भारी रोग था मही बने पृथ्वी इस पृथ्वी के ऊपर बड़ा सबसे बड़ा रोग मोह शंकर जी के मकान का पृथ्वी के ऊपर माने पृथ्वी के ब्रह्मनस रह रहे हैं पृथ्वी मृत्यु कहलाती है और यहाँ पर रहने वाले सब प्राणियों में अधिकांश मनुष्य लोग और ये मनुष्य लोग जितने भी हैं राजदेश में घिरे हुए और मोह में पड़े हुए हैं तो मोह ने इस देश के सबको पृथ्वी के ऊपर अपना शासन बना रखा है और पृथ्वी का रोग है मैंने पृथ्वी पर रहने वाले मोह में पड़े हुए हर व्यक्ति को देखो अपने अपने मोह में पड़ा हुआ है और मोह दिखाई नहीं देता देखो उसको देखना कोई ये तो दिखाई देता है हमारे पास कितना पैसा है गिन लो कितने कपड़े हैं कितना सामान है कितना बड़ा मकान है ये तो सब दिखाई देता है गिन लो लेकिन अपने भीतर कितना मोह भरा हुआ है कैसे पीड़ा पहुंचा रहा है वो कैसे दिखाई देता वो लोगों को न दिखाई देता है न उसको समझ में आता है लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो वही है वही सबसे बड़ा रोग है ये कृप दूरी महामही पूरी हुआ कभी कभी इसलिए कहते हैं इसीलिए कि इन सबके लिए दूसरे के पास जा करके ये सब डायग्नोज करवाना चाहिए जैसे कि शरीर में किसी को रोग लगता है तो तकलीफ तो होती है पीड़ा होती है तो उसे पता नहीं लगता कि हो क्या गया है तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी चेकिंग करता है तो बताएगा भाई तुमको ब्लड का है कि शुगर का है कि तुम्हारे अंदर पेट की गड़बड़ी है कि कहाँ की गड़बड़ी है ढूंढा करके तो बताएगा रोग ये रोग तुम्हारे लिए तो जब रोग बतावे हो तो डॉक्टर जो रोग बतावे तो सुनो भाई को इसका ये रोग बताया तो यही है तो दवा बतावे तो उस दवा को प्रयोग करे ऐसे ये शरीर से ज्यादा भयंकर रोग तो वो आदि रोग मानसिक रोग और ये व्यक्ति को तो अपने आप अपने रोग नहीं दिखाई देते क्योंकि जब बुद्धि के ऊपर ये रोग करता है आता है तो बुद्धि ही दुर्बल हो जाती है तो उसके आच्छादित हो जाती है जिस बुद्धि से सब बातें समझी जाती हैं वो बुद्धि स्वयं हो गई विकृत अब कैसे समझ में आए कि हमको ये रोग है कि नहीं अहंकारी व्यक्ति को नहीं समझ में आए तो हम अहंकारी मोह में पड़े हुए व्यक्ति को नहीं समझ में आए तो हम मोह में पड़े हुए हैं क्रोधी व्यक्ति को नहीं समझ में आए कि हम क्रोध कर रहे हैं तो बड़ी खराब बात कर रहे हैं जो भी व्यक्ति को लोग होगा तो उसको लोग नहीं समझना है कल लोग में पड़े हुए ये लोग तो दोस्त हमारे साथ लगा हुआ कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति नाना प्रकार की कामनाएं कामनाएं नाना प्रकार की वो सब उसके जंगल हो उनसे ग्रसित है लेकिन उसे पता नहीं लगे कि हम कामनाओं से ग्रसित है उसके कारण से हम दुखी में परेशान तो किसी के पास जाकर के कोई देश का जानकार इनका हो उसके पास बैठे तो वो बता दे कि भाई तुम्हारे अंदर ये लोग है सावधान होगा अब जब बता रहे तो ये न समझे कि ये तो दुश्मन है हमारा देखो ऐसे ही होता है हमको दोष लगाता है ये न माने बल्कि ये समझे कि जो बता रहा है वो हमारे ऊपर दया कर रहा है कृपा कर रहा है उसी जी ने कहा जैसे कि डॉक्टर भाव को छीलता है ब्रह्म को तो कष्ट होता है उसी प्रकार का दूसरा व्यक्ति अगर कोई दोष बतावे रोग बतावे तो व्यक्ति को अहंकार को चोट लगती है और अहंकार को चोट लगती है मैंने मतलब तो उससे बच करके व्यक्ति सहन करके उनको अपने जो है मानसिक रोगों का फिर उपचार करे शास्त्र जैसे बताए गए उस प्रकार तब उसका उद्धार हो तब शांति मिले नहीं तो फिर वो अपने आप ही अपने रोगों को पालता रहेगा पीड़ित दुखी भी होता रहेगा परेशान होता रहेगा तो कृतभूरी महामय भूरी रुजा रजनीकर ब्रह्म पतंग रहे ये अनुशासन है ब्रह्म बहुत से पतंगे के समान थे पतंगे जैसे जब बरसात में आते हैं तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हो जाते हैं उनकी कोई गिनती नहीं ऐसे ही तो सब निशाचर जो निशाचर के मन में एक रावण थे रावण के सेनापति पुण्य के उन्होंने कुंभ प्यारे वे सब शासक जितने हैं वो पतंगे भी तरह और भगवान के बाण कैसे सर्पावत तेज आपके बाण जो है अग्नि के समान ज्वाला के समान जलने वाले उनमें तेज प्रचंड चले माने उसके बाणों की प्रचंड ज्वाला में वो सब निशाचर चले अभी अब देखो भगवान के शरण में जाए तो अब वो भगवान की शरण भगवान के अनुस्मरण चले और उनसे निशाचर मरे तो आपकी दोस्तों की निशाचरों में प्रीति होगी उनमें आसक्ति होगी तो उसको तो बड़ा खराब लगे मेरे सब निशाचर मरे जा रहे हैं और उसे पता भी नहीं हमारे निशाचर हैं वो सब पीड़ित होंगे सब नष्ट होंगे लेकिन ये सब के सब जल करके भर जाए तब जो है ये है जितना मानसिक रोग है वो दूर अब देखो यहाँ पर ये भूरी ये कहिए मही हो जा इससे ये सूचना मिलती है कि ये सब रोग रोग के मारे रोग ये सब रोग इन रोगों से छुटकारा बहुत आवश्यक है अगर मानसिक कोई व्यक्ति सारे जीवन नाना प्रकार की साधनाएं करता रहे या कोई भी पूजा पाठ भी करता रहे लेकिन मानसिक रोग वैसे ही बने रहे अथवा पढ़ भी जाए कभी कभी किसी को पढ़ भी जाते हैं जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं अगर बढ़ जाए तो ये न समझे कि हमारा बड़ा कल्याण हो गया देखो तो वहाँ तमाम रोग हमारे पहले कम से और बहुत से हो गए मानसिक रोग तो जितने रोग होते जा रहे हैं उतने हम महान बनते जा रहे हैं ये मूर्खता गलत ये नहीं वो तो ये सब तो सब रोग जितने निवृत्त हों धीरे धीरे छूटते जाए तो उतने ही जो है व्यक्ति का कल्याण भगवान को कृपा करते हैं जब भगवान का स्मरण करो उनकी लीलाओं को सुनो उनके गुणों को सुनो उनका नाम जब करो तो भगवान का तो स्वभाव का प्रभाव पड़ता ही है मानसिक रोगों को दूर करते ही है लेकिन व्यक्ति भी, भी अपने ऊपर भी कृपा करे थोड़ा उनसे बचता रहे जब जब ये निशाचर ये मानसिक विकार मन में उत्पन्न होते रहे अपना बल दिखाते रहे तो झट से इनको दबा दो और पश्चाताप करे कि कहाँ से अब ये बने हुए हैं क्यों नहीं समाप्त होते खतर होनी चाहिए इस प्रकार से अपने मन में जैसे क्रिश्चियन लोगों का कन्फेशन जैसे कन्फेस करता है अरे कहाँ से ये लोग आ गए पश्चाताप देकर करता रहे ये लोग दूर क्यों नहीं होते कब दूर हो कब शांति मिले ये सब जो है ये है इस प्रकार से विचार करता रहे अपनी तरफ से रजनी कर ब्रह्म पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड रहे महिमंडल मंडल चारु तरम महिमंडल पृथ्वी जितना भी पृथ्वी मंडल है मंडल उसके आप आभूषण रूप है चार कर्म आप बड़े ही सुंदर हैं चार हैं और सब पृथ्वी के आप ही श्रृंगार हैं अब ये परमात्मा भगवान न हो तो पृथ्वी के उस लोक की गई ही क्या अगर भगवान की भक्ति न हो भगवान की चर्चा न हो तो इस पृथ्वी को तो कुछ नहीं रखा होगा प्रतिभा करके ही न रहते पृथ्वी तो कई जो क्लेशी क्लेश है ये तो बहुत पृथ्वी पर थोड़ा भगवान की चर्चा है भगवान का नाम है उनकी थोड़ी भक्ति है थोड़ा ज्ञान है तो बस यही पृथ्वी की शोभा है यही इसकी महिमा है नहीं तो व्यर्थ धृत सायक चाप निशंग धर्म आप सायक और चाप धृत धारण किए धनुष वर्ण आप धारण किए हुए हैं तो निशंग मैंने तर्कस आप तर्कस भी बांधे हुए हैं धनुष बांध लिए हुए हैं तर्कस आपके साथ बना हुआ है ऐसे माने ये सब के सब लंका कांड के प्रारंभ में कह चुके हैं ये सब भगवान के काल काल लवनिवेश परमाणु ये सब जितने भी हैं ये है और काल का तो जो दंड और फिर भगवान का जो है दंड जो है काल ये लवनिवेश सब उसके जो सर बाण तो ऐसे करके भगवान पुरस्कार धारण किए हुए के माने काल उनके बस में है तो सारे संसार को जो है इस काल से जो वो सबको अपने नाते हुए उसी से सबको बांधे हुए उसी से सबको सबका उसी से सबका सृष्टि में विध्वंस उसी से होता जाता है जितना अशुभ है उसका विध्वंस होता जाता है करते जाते हैं मधमोह महाममतार जिनी अब कहीं देखो ये विकार है जो है अज्ञान की तरफ आते हैं ये सब के सब अज्ञान के कारण है मद है मोह है ममता है महाममता है ये सब रजनी के समान है रजनी के मैंने अं-, रात्रि के समान जैसे रात्रि में तो ऐसे ये सब अज्ञान अज्ञान के ही अंग है सब के सब मद है अरे मेरे समान कौन ज्ञानवान है अरे मेरे समान कौन समझदार है बड़े मेरे समान कौन शक्तिशाली है ऐसे करके जो है मद जो व्यक्ति का जो है वो नशा है उस नशे में फिर उसको कुछ न दिखाई दे न सुनाई दे कोई उसकी निंदा करे तो भी न सुनाई दे कोई उसको जो है वो हो कई रास्ता बतावे तो भी न समझ हो आवे मद में फिर व्यक्ति जैसे नशेची आदमी व्यक्ति किसी शराब बहुत पी ली हो उसको कोई भी कुछ भी कहता रहे उसका कुछ असर नहीं अपने नशे में खड़ा होता है ऐसे ही जहाँ ये है जिसको कि मद ने घेर लिया तो मानसिक ये मद है ये है नशा है ये है इसमें व्यक्ति होगा कोई बहुत भाई देखो ऐसा क्यों ऐसा करते हो इसका इतना सुधार कर लो क्यों इतना अहंकार करते हो क्यों इतना झगड़ा प्रसाद करते हो हाँ? ये सब देखो सब आखिरकार सब परमात्मा ही रूप है संभावित रखो उसके पीछे कुछ हाँ, वैसी जैसे भी रखो कराई नहीं है कोई रखा होगा ये सब बुजुर्ग की बात है ये कर रखा आदमी को सत्य समझना और उसी में आसक्त बना रहना जो आकर्षण संसार का है वो सत्य है और बस उसी में लिप्त बना रहना अटैचमेंट होना वो हो गया ममता मेरापन ये मेरा ये मेरा ये मेरा परिवार ये मेरे मित्र अब कोई कोई लोगों को तो अपने परिवार का बड़ा अहंकार है मंत्री ममता है और किसी को अपने मित्रों की बड़ी ममता मैं नाम गिनाते जाए कथा सुनाते जाए तो संसार में हजारों लोगों को जानते हैं और उनका गांव भी जानते हैं शहर भी जानते हैं पिता का नाम भी जानते हैं उनके भाई उनके उनको भी जानते हैं उनके भी उनको जानते हैं ये सब मेरे हैं और सब मुझको जानते हैं इतने लोग तो देखो ममता कितने प्रकार की होती है ममता परिवार की भी ममता शरीर में भी धन संपत्ति में भी ममता ममता मन पर जहाँ जहाँ करके मेरा कल जोड़ लिया वहाँ नाना प्रकार का मेरा एक मेरापन ये भी कि तो हम हजार लोग को तो जानते हैं हम हजार लोगों को जानते हैं हजार लोगों को जानते हैं और उनके सबका इतिहास पत्नी सबकी याद और रोज रोज उसकी गृहस्थ को रिवाइज करते रहते हैं जैसे वहां पर कहीं कहीं तीर्थों में जाओ हरिद्वार वगैरह में तो पंडे मिल जाएंगे का पल्ले मिलेंगे तो फिर उनके के उठा देने कौन से बड़ी खाता रहता है कि देश भर के जितने शहर और जितने गांव मोहल्ले और जितने रहने वाले जितने लोगों के परिवार उन सबका का उनके पास खाता है तुम्हारे पिता हुए थे तुम्हारे पापा हुए थे वो हमको रहने वाले हैं वो फलाने वजन में आए थे वो फलाने सन में आए थे सब रटे रहते रोज वही पाठ करते उनका सबका जो है स्मरण रखता है ऐसे करके पंडल की तरह से कोई कोई लोग अपने शहर भर का दुनिया भर के लोगों को याद रखते हैं सबको सब में ममता हूँ क्रोध मोह महा ममता रजनी सब अंधकार है ज्ञान का सब सूचक है परमात्मा तो याद नहीं आता बस यही दुनिया भर के यही प्रभाव आता तो मद मोह महा ममतारदिनी तम कुंज दिवाकर प्रीतियानी इस इस रात्र के तम कुंज को आप दिवाकर माने सूर्य के समान है और तेज अनी माने आपकी किरणें जो प्रकाश जैसे सूर्य की किरणें यहाँ आई तो अंधकार घट गया जैसे आपका तेज की प्रेरण उसके सब जो है ये सब मिट जाते हैं मैंने अगर भगवान का स्मरण करिए और वो भगवान हृदय में यद किंचित भी प्रकट हो थोड़ी भी उनका प्रकाश आ जाए एक किरण भी उनकी तरह हृदय में आ जाए तो ये सब अंधकार मिट जाए ममता मिटे मोह मिटे मध मिटे ये सब के सब दूर हों और कुछ में प्रकाश आ जाए तो प्रकाश आ जाने के माने है फिर वहां सब ये तो ममता मोह इत्यादि षट विकार से दूर हो जाए और फिर सब गुण जितने भी अपने अंदर उदित हो गया प्रेम दया क्षमा करुणा उदारता समस्त भाव शांति भाव निर्लिपता संगता ये समस्त गुण आ जाए फिर बस फिर व्यक्ति तो सुंदर बन गया आनंद में भी बन गया उस व्यक्ति में स्वयं अपने लिए आनंद और जिस समाज में रहे सब उसके सुख सुखी कोई शिकायत नहीं सब प्रसन्न तब पुंज दिवा करती यानी मन जात रात निपात किए अभी बताते हैं देखो संसार में जैसे ये बताया था कि ये तो एक तो मानसिक रोग है फिर ये बताया कि मानसिक रोग क्या है ये तो मानो अज्ञान के अंधकार के रूप में अब दूसरे प्रकार से कहते हैं मन जात के माने है कामना है काम उसको कहते हैं मन जात ये किरात के समान किरात के माने है बहिरिया तो ये जो काम है वो बहेलिए की तरह से है निपात हाँ? किए मृग लोग जैसे बहेलिया लोग मृग को मारने किसी पशु को या धन को उसको मारते हैं उसको बाहर से बेच देते हैं पकड़ लेते हैं मार देते हैं उसको ऐसी करके इस काम ने लोगों को मृग के समान जितने भी लोग हैं पशुओं के समान उन सबका उन्होंने निपात कर रखा है उनको सबके ऊपर उसके बाहर से बेच रखा है और भोग शरीर लिए उसके बहेलिए के बाण काहे के हैं सरकमन बाण शरीर मन बाण के द्वारा कैसे बाण के द्वारा उपभोग हुए भोग के बाणों के द्वारा उनके दिए मन उनके हृदय छेद दिए अब ये बात अब उसी को समझने के लिए यदि नाना प्रकार की कामनाएं हृदय में हैं तो